प्रश्न है संसार में देखने पर मिलता है कि मनुष्यों की संख्या सीमित है जो कर्म करने में स्वतंत्र हैं और फल भोगने में परतंत्र हैं जिनकी आयु भी सीमित ही है जो अपने जीवन में ऐसे कितने पाप पुण्य कर देते हैं जो अन्य योनियों में जाने के लिए विवश होने पर पशु पक्षी कीट कृमि पतंग पेड़ पौधे वनस्पति जीवाणु विषाणु तथा बैक्टीरिया आदि असंख्यात योनियों में जन्म पाते हैं और अपने पूर्व कर्मों का भोग नाना प्रकार से भोगने को विवश होते हैं ऐसा क्या कारण है कि सीमित मनुष्यों से असीमित ये योनिया हो जाती हैं यह तथ्य देखकर बड़ी हैरानी होती है कि संसार की यह विचित्रता क्या दर्शाती है कि हमें कैसे कर्म करने चाहिए जिससे इन असंख्य योनियों में जाने से बचा जा सके अपने परम लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके तो इस छोटे से मनुष्य जन्म में हम इतने कितने कर्म कर देते हैं कि इन विभिन्न गणना के अयोग्य इतनी सारी योनिया इतने प्रकार के शरीर भोग के लिए हमें प्राप्त होते रहते हैं तो एक तो मनुष्य जितने भी कर्म करता है इस छोटे से शरीर में इस छोटे से काल में वो बहुत अधिक होते हैं प्रश्न इनका इस रूप में है कि काल तो थोड़ा सा ही है पचास साठ सौ साल का जीवन और मनुष्य बहुत थोड़े से हैं और अन्य प्राणी बहुत अधिक हैं जितनी तरह के जीव जंतु हैं उसका भी हमें पूरी तरह पता नहीं लग पाता और एक एक प्रकार के शरीर में एक एक योनि में कितने जीव जंतु होते हैं यदि मच्छर देखें तो कितने मच्छर हैं चीटियां देखें तो कितनी चीटियां हैं दीमक देखें तो कितने दीमक हैं कुत्ते बिल्ली मछलियां केकड़े मेंढक ऐसे छोटे छोटे प्राणी बड़े प्राणी एक एक कितने अधिक हैं बहुत अधिक हैं जैसे हम कोई कार्य करें तो मन में ये भाव आता है कि लगभग उतना ही हमारे को दंड या पुरस्कार मिल जाएगा इस मनुष्य शरीर में 40, 50, 100 साल तक हमने कुछ कर्म किए तो उसका फल भोगना है तो इतने ही दिन में कुछ भोग लिया जाए इतने ही वर्षों में और यदि उतने ही काल में फल भोग लिया जाता तो फिर ये बहुत सारे दूसरे प्राणी कैसे हैं इतने अधिक कैसे हैं क्योंकि ये भी कभी मनुष्य थे और यदि थोड़े ही काल में फल भोग लिया जाता तो मनुष्यों की संख्या और अन्य प्राणियों की संख्या में इतनी भिन्नता नहीं होनी चाहिए उनके अनुपात में इतना अधिक अंतर नहीं होना चाहिए मनुष्य शरीर में थोड़े से कर्म किए और थोड़े ही काल में भोग लिए पूरा हो गया तो इन्होंने एक बात लिखी आगे कि संसार की यह विचित्रता क्या दर्शाती है ये अपने आप में बहुत विचारणीय बिंदु है हमें परमात्मा का ज्ञान परमात्मा का स्वभाव परमात्मा के कर्म शास्त्र से भी पता लगते हैं उसका श्रव्य काव्य वेद है उससे भी पता लगते हैं और ये संसार परमात्मा ने जिस ढंग से बनाया है उससे भी परमात्मा के कर्म पता लगते हैं और बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है ये दृश्य काव्य है उसका देख करके हम कुछ समझते हैं तो ऐसा क्यों है कि मनुष्य बहुत कम और अन्य प्राणी बहुत अधिक है यंत्र क्यों जो ये मानते हैं कि मनुष्य मनुष्य ही रहता है और अन्य प्राणी अन्य प्राणी ही रहते हैं उनके यहां तो ये प्रश्न नहीं उठेगा क्योंकि वो उन आत्माओं को उन शरीरों में ही सदा मानते हैं कुत्ता है तो कुत्ता ही बनता रहेगा उनको छोड़ दीजिए वो एक सिद्धांत विरुद्ध बात है लेकिन आत्मा मनुष्य भी बनता है कुत्ता भी बनता है बिल्ली भी बनता है भिन्न भिन्न शरीरों में जाता है तो जब सब आत्माएं समान हैं और कर्मानुसार विभिन्न शरीरों में जाती हैं तो बहुत थोड़ी ही आत्माएं मनुष्य शरीर में क्यों हैं और अन्य शरीरों में अधिक आत्माएं क्यों हैं इस प्रश्न की इस अचरज की गंभीरता देखिए हम कितनी कल्पना कर सकते हैं कि एक मनुष्य और दूसरी तरफ कितने प्राणी होंगे क्या अनुपात होगा अनुपात परस्पर क्या होगा हम क्या कल्पना कर सकते हैं जैसे मनुष्यों में स्त्री पुरुष का अनुपात लगभग 50-50 प्रतिशत या थोड़ा कम ज्यादा होता है लगभग बराबर होते हैं ये अनुपात कहलाता है अब यदि हम अन्य प्राणियों को और मनुष्यों को देखें एक तरफ मनुष्यों की संख्या लिख दें लगभग आठ अरब और दूसरी तरफ अन्य प्राणियों की संख्या लिख दें और उसको जितना कटता हो काट दें और फिर उसको अनुपात को देखें तो यदि केवल चीटियों को ही देखने लग जाए तो चीटियां मनुष्यों से अधिक है या कम है अधिक है कितनी अधिक है कितनी अधिक है हम इतने बड़े आश्रम में कुछ व्यक्ति रहते हैं उतनी चीटियां एक छोटी सी जगह में एक बिल में उससे ज्यादा रहती हैं एक गांव में एक हजार लोग यदि रहते हों तो गांव और उनके खेत खेत सहित पूरा क्षेत्रफल ले लेंगे उसमें मनुष्यों की अपेक्षा चीटियां कितनी अधिक हैं मच्छर कितने अधिक हैं पशु पक्षी अन्य वो कितने हैं और पेड़ पौधों में भी जीव हैं पेड़ पौधों की संख्या कितनी है एक गेहूं के खेत में कितने अधिक गेहूं के पौधे हैं मक्का के कितने पौधे हैं रजके के कितने हैं गाजर बोई है तो गाजर के कितने पौधे हैं घास फूस कितनी है बड़े पेड़ कितने हैं बहुत अधिक है और इसकी तुलना में ये तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें हो गई बिल्कुल छोटे जो सूक्ष्म जीवाणु हैं उनकी भी गणना करने लगे हैं तो मनुष्य और अन्य प्राणियों का अनुपात हमारी कल्पना से भी बाहर चला जाएगा एक मोटा अंदाजा हम लेते हैं जैसा कि वैज्ञानिक कुछ आकलन करते रहते हैं तो उनका ये एक मोटा आकलन कि एक वर्ग मील में जितने सूक्ष्म जीव रहते हैं जमीन में जमीन में ऊपर से लेके कुछ दूर नीचे तक बहुत सारे सूक्ष्म जीव रहते हैं खेती के काम भी आते हैं हानिकारक भी होते हैं दोनों तरह के होते हैं जितने जीव रहते हैं उतने पूरी पृथ्वी पर मनुष्य हैं इतनी बड़ी पृथ्वी पर केवल एक वर्ग मील और पृथ्वी का क्षेत्रफल इससे करोड़ों गुना ज्यादा है तो एक मनुष्य के पीछे करोड़ों दूसरे जीव बने हुए हैं लगातार करोड़ों सौ के पीछे एक मनुष्य ने लाखों जीवों के पीछे एक मनुष्य करोड़ों जीवों के पीछे एक मनुष्य है अर्थात इतने लोग मनुष्य बनने की सूची के अंदर है पंक्ति में इन जितने भी जीवों ने कर्म किए हैं वो मनुष्य शरीर में ही किए हैं अन्य शरीरों में तो नए कर्म होते ही नहीं है वो केवल भोग्योनिया है और मनुष्य शरीर हमें इतना छोटा सा दिखाई देता है कुछ दशकों का इतने छोटे से मनुष्य जीवन में इतने कितने कर्म कर देते हैं कि वहां करोड़ों जन्म लेने पड़ते हैं और उससे भी ज्यादा लेने होते हैं अरबों खरबों की तुलना अनुपात वहां पर हमें दिखाई देता है ऐसा क्यों हो गया और जिस प्रकार से अन्य प्राणी अन्य शरीरों में हैं आज ऐसा ही लगभग आज के मनुष्यों के साथ भी होगा आज के मनुष्य शरीर में जो आत्माएं हैं वो भी लगभग वैसी ही वो भी इस एक मनुष्य जन्म में इतने कर्म कर लेते हैं इतने दुष्कर्म कर लेते हैं कि विभिन्न शरीरों में जाकर के उनको इतना काल भोग भोगने होते हैं तो ये तो हमारे को दुष्कर्म ही दुष्कर्म दिखेंगे एक सामान्य व्यक्ति अपने प्रति क्या आकलन रखता है कि मेरे पुण्य कर्म अधिक है या पाप कर्म अधिक है संसार में धार्मिक व्यक्ति अधिक है या अधार्मिक व्यक्ति अधिक है सज्जन व्यक्ति अधिक है या दुष्ट व्यक्ति अधिक है तो सामान्य रूप से हमारा ये आकलन आता है कि सज्जन धार्मिक अधिक है दुष्ट काम है संसार में कुछ ही दुष्ट होते हैं जो सबको परेशान करते रहते हैं कुछ ही व्यक्ति होते हैं जो जेल जाते हैं उन कुछ व्यक्तियों को ठीक कर दिया जाए तो बाकी सब भी ठीक रह लेते हैं ऐसा सामान्यतः हमें प्रतीत होता है और हम अपने लिए भी सोचें कि हमारे पाप अधिक हैं या पुण्य अधिक है पाप अधिक होंगे तो अन्य शरीरों में जाएंगे मनुष्यतर शरीरों में और पाप और पुण्य बराबर हैं तो भी मनुष्य जन्म मिल जाएगा और यदि पुण्य अधिक है तो मनुष्य शरीर मिल ही जाएगा हमारा अपने प्रति क्या आकलन है हमारे पाप और पुण्य कितने कितने होंगे अधिकतर लोगों के एक मनुष्य के पीछे करोड़ों अरबों अन्य शरीर विद्यमान हैं और लगभग वो चलते रहते हैं कितने भी मरे और कितने भी जन्म भी लेते रहते हैं एक प्रवाह चलता ही रहता है मछलियां कितनी भी मरती हों लेकिन फिर भी लगभग बनी ही रहती हैं हमारे पाप अधिक है या पुण्य अधिक है जैसे उधर अन्य शरीर अधिक है ऐसा ही लगभग हम सबके साथ में होने वाला है एक मनुष्य शरीर में कुछ सौ कुछ वर्ष हम जिए और उससे इतने कर्म कर लिए और इतने बुरे कर्म कर लिए कि खरबों वर्षों तक खरबों योनियों में हम इधर उधर भटकते रहेंगे ऐसा क्यों हो गया क्या हमारे इतने अधिक कर्म होते हैं तो उसका उत्तर है हाँ हमारे इतने अधिक कर्म होते हैं बहुत सारे कर्म होते हैं हमारे एक बात दूसरा हमारे कर्मों का फल बहुत बड़ा होता है जितना हम सोचते हैं उससे बहुत अधिक गुना होता है हम सोचते हैं कि हमने किसी के साथ में ये बुरा किया किसी को सौ रुपए छल कपट पूर्वक ले लिए किसी को थोड़ा सा गलत बोल दिया उसको कुछ दुख हुआ तो उसको बहुत थोड़ा सा मानते हैं और उसका दंड कितना मानेंगे थोड़ा सा जितना हम दंड समझते हैं उससे कई गुना ज्यादा बहुत अधिक परमात्मा का दंड होता है वेद मंत्र का भाग भी आता है भीमा इंद्रस्य हेतया परमात्मा के दंड बड़े भयंकर होते हैं बहुत बड़े होते हैं परमात्मा के दंड केवल दुख देने के लिए ही नहीं होते वो व्यवस्था करने के लिए भी होते हैं यदि परमात्मा उतने ही वर्षों में हमें सारा फल दे देता जितने समय में हम मनुष्य जीवन जीते हैं तो फिर तो ये सारी व्यवस्था ही नहीं हो सकती थी फिर तो जितने मनुष्य होते ही लगभग उतने ही दूसरे प्राणी होते हैं क्योंकि लगभग उतने ही काल में वो भोग लेता और फिर मनुष्य बन जाता लेकिन उतने काल में ये भोगे नहीं जाते बहुत लंबे काल तक भोगने होते हैं इसलिए दोनों में बहुत बड़ा अंतर है इस विषय को और आगे विस्तार से करेंगे आज इतना ही रखते हैं समय देखो